वो इंतज़ार नहीं कर रहे मगर क़यामत का कि अचानक उन पर आ जाए और वो सोचते भी ना हों